लेकिन वो जानते थे पहले से जनक के अलावा राजा और कोई नहीं जानता वो समझते थे कि भाई ये श्रोत ब्रह्मिष्ट पुरुष है इसलिए उसने रोका नहीं उसने ये नहीं कहा पहले आप साबित कीजिए बाद में ले जाइए उसको कहना चाहिए था लेकिन कहा किस बात किसने इन बात को दूसरों लोगों ने कहा राजा नहीं कह रहा है कि भाई जो शरण हमने रखा है पुरस्कार वो पहले अपने आप को साबित कीजिए वो विद्या को प्रकट कीजिए इसको ले जाइए राजा ने नहीं कहा फिर आगे जानता है वहां यही रहस्य है और बाकी नहीं जानते सब अपने अपने अहंकार मैं विद्वान हूं मैं पंडित हूँ गाड़ी तो तो मेरे पास दो बाहर है छोड़ूंगा थोड़ी मैं अभिमान कम नहीं किया इसे वो पहचान नहीं सकते आप अभिमान के साथ जाओगे पहचान नहीं सकते मेरा निरभिमानी जब चला जाता है तो वो आप अपने आप और हृदय दोनों एक हो जाएंगे स्वतः ही हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर श्रोत्रम वर्णिष्ठम कह करके विशेष बात कहा गया बाह्य मापदंड श्रोत्र है और आंतरिक मापदंड क्या है ब्रह्मनिष्ठता है इसलिए यथा तपोनिष्ठ जपोनिष्ठ दृष्टान दिया मैंने उनकी वृत्ति जिस प्रकार से तपोनिष्ठ का वृत्ति क्या है तपस्या में ही रहती है और बाह्य व्यावहारिक जगत के प्रति उसकी वृत्ति जाती ही नहीं है और यहाँ तो लोग इधर वेदाश्रवण करने के बाद बाहर जगह अखबार के पीछे पड़े रहते वृत्ति का मतलब कहा है श्रवण करने के दस मिनट के बाद भी असर नहीं रह गया तो जिंदगी भर का असर रहेगा विचारणीय अच्छा, विषय है ना ये तो आपकी अपनी वृत्ति फिर जगनिष्ठ है जपनिष्ठ भी नहीं है तपोनिष्ठ भी नहीं है भाई शब्दात्मिक विद्यानिष्ठ भी नहीं इसलिए ये भी वृत्ति नहीं बन पा रही निकलते ही लगता है कि दो घंटे का बड़ा जेल से निकल गए हम आप हंसे थे साढ़े सात से सवा नौ तक नहीं जेल से निकल गए हम मुक्ति मिल गई तो किसने डाला आपको जेल में खुद आए हो और फिर डेढ़ घंटे परेशान होकर फिर वहां अखबार पड़ गए उसके एंटरटेनमेंट कर रहे हो बताओ क्या है क्या होगी विचार ही तो स्वयं की जब वृत्ति हमारे साधना में है नहीं तो साध्य निष्ठा कहां से होगी उस साध्य में निष्ठ पुरुष को पहचानिए कैसे हम स्वयं साधन तो निष्ठ हो तब तो साध्य निष्ठ पुरुष के पास थोड़ा बहुत तो महसूस हो जाएगा कि ये क्या है इंट्रेक्शन होगी ना तभी जब हम साधन निष्ठ ही नहीं है अब ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे असंभव परिकल्पना है और राम ले तो भी हम गाली लेकर निकल जाएंगे समझेंगे नहीं ब्रह्म ज्ञान जैसे महापुरुष उसकी तो खोपड़ी कट गई इसीलिए या के सामने पहचान नहीं रहा कहा रहे मैं गौर अतिमा प्रश्न मत डाला करो इसे आगे मत पूछो माना नहीं उसने तो गया हो तो यही होता है ब्रह्मज्ञानी के सामने वो आप खड़े हैं लेकिन आपको पहचान नहीं पाएंगे जब आप स्वयं साधन निष्ठ न हो अंत तो शुद्ध न जब साधन चुष्ट संपन्न हुए बिना वेदांत अधिकारी इसे तो नहीं मान रहे जब आपके वो मुख्य आ जाएगा तो स्वतः ही वो ब्रह्मनिष्ठ में देर में लगती है मोक्ष का अभाव होने से पहले भटकना पड़ता है भटकना इसी वजह से ये तो किसी जन जन्मांतर में सौभाग्य है कि हमें आप जैसे विद्यार्थियों को मिले सुनना सुनाने को और आपको हमारे जैसे मिल गए जो सुनाने वाला जल्दी मिल गए नहीं नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है कितने ठोकर खाने पड़ते कहा का धक्के खाने पड़ते हैं कई जनों बीत जाते क्योंकि हम लोगों की अपनी साधन निष्ठा ठीक नहीं है ये लौकिकी शब्दमयी विद्या के अंदर भी हमारी जब निष्ठा नहीं बन पा रही है तो आगे की बात सोचना नहीं है हमें हमें सोचना ये कैसे बन जाए ये शब्दमयी जो आचार्य ने कह रहे हैं ये भाष सहित उपनिषदों को हम कैसे घोट रहे इसको देखे हम बाद में देखेंगे हमारे को जो सुनाया ब्रह्मनिष्ठ यानी बाद में छोड़ दो उस बात को उसको छोड़ ही चाहिए बिल्कुल भूल जाओ अब ये देखो कि किस प्रकार से हमें विद्या हासिल हो जाए शब्द में ही सही परोक्ष विद्या ही सही ये हमें हासिल कर ले और इसको घोट ले चिंतन मरण वृत्ति यदि विद्या निष्ठ भी हो जाए तो ब्रह्मनिष्ठ होने में देर नहीं लगता फिर नौका पे बैठने में देर लगेगा आप बाहर खड़े सोचते रह जाएंगे पता नहीं ये नौका में कहीं छेद तो नहीं है पता नहीं नौका पलट तो नहीं जाएगा पता नहीं इस नौका को चलाने वाला एक्सपर्ट है या नहीं पता नहीं है नौका के मोटर कहीं फेल हो जाए तो क्या होगा भारी वो सोचते हो जाएंगे नौका पे बैठेंगे कब पहुंचोगे कब पहुंच नहीं सकेंगे इसीलिए भगवान भर में छोड़ के जैसा बैठ जाते हैं नौका सोचते ही क्या आप बस में बैठते हैं ट्रेन में बैठते हैं सोच के बैठते हैं कि पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा ऐसे संशय करेगा तो बैठ ही नहीं सकता निसंशय वगैरह बैठते हैं नहीं हम दिल्ली अमुक टाइम पर पहुंच जाएंगे वहां फोन करके बोल भी अमुक टाइम आ रहा हूं मैं भले रात में स्वर्ग पहुंच जाना पड़ जाए होता ही नहीं होता जिस प्रकार से मैं के साधनों में इतनी निष्ठा है विश्वास परिपक्व उसे हमें इस आध्यात्मिक साधन में भी निष्ठा हो जाए तो फिर अपने महसूस हो जाएगा जो अगला बैठा क्या है इसी में अभाव है तो इसको अपनाना पड़ता है इसलिए इतना विशेषण दिया कि सम्यक उपसन्ना इत्यादि और वही पर नियम भी लागू हो जाता है नियम क्या लागू होना है स्वतः ही सिद्ध वाली वस्तु है और नियम से बंधता कोई नहीं वास्तव में तो कहने के लिए आचार्य के लिए नियम हो गया इन वास्तव में जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कहीं से भी सुना जाए गधा भी कहा जाए हम ब्रह्मास्मि ना तो आपको ब्रह्मानुभूति हो जाएगा लेकिन आप उसके योग्य हो तब ना उस शब्द पढ़ने पर असर करेगा यदि तो कैसे असर करेगा बहरे का नाम पुकारते रहो क्या सुनेगा वो कि साधना भाव आप जोर से माइक ला के सुनाइए वो बहरा उसका नाम नहीं सुन सकता उसी प्रकार हम लोग भले वेदांत माइक ला करके बोले लाखों चिंता के सामने में सुनावे लेकिन उनके हृदय में वेदांत जा नहीं सकता है क्योंकि सब वेदांत दृष्टिया बहरे हैं समझो अंतगण शुद्ध भाव सागरा भाव तीसरा आचार्य क्या करेगा कोई क्या कर सकता है तो स्वयं उसके योग्य हो जाए अगले की लक्षण की जरूरत ही नहीं है केवल वो शब्द सुनने की जरूरत पड़ती है कि हम योग्य हैं तो शब्द पड़ जाए किसी के भी मुख से पड़ जाए काम हो जाएगा लेकिन वो साधन निष्ठा के लिए यहां पर इतनी जोर अपरा विद्या के समापन में पराविद्या के लक्षण और पराविद्या के विषय का लक्षण और पराविद्या के अधिकारी का स्वरूप इतना विस्तार से कहा गया था तब कहते वह यह सत्य को हम कैसे पकड़ेंगे द्वितीय मुंडक में आरंभ होता है तदेत सत्यम यथा सुदीप्ता पावका विश्वलिंगा सहस्रश प्रबंध स्वरूपा तथा अक्षरादि विदा सौम्य भावा प्रजाती तथा चैवापीयन्ति तदेद सत्यम वह यह जो स्वरूप संसार का जो अक्षर ब्रह्म है वह क्या है पर विद्या का जो विषय होता वस्तु वह सत्य है वह यथार्थ वो मिथ्या नहीं है और ये सारा जगत उसी प्रकार का है यथात्मिस्फुलिंगा सरसा प्रबंध सरोपा जिस प्रकार सुदीप्त अग्नि से चिंगारियां उड़ते हैं साफ रिश्ता अभी त्रिवेणी घाट में आपने सुना होगा देखा होगा एक दुकान में भयंकर आग लगा ऐसा था कहते कि उस दुकान से बाहर सौ फुट तक कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता इतनी भयंकर आग और इतनी चिंगारियां उड़ रहे थे और खेल की बात यह है पूरा ऋषिकेश में अग्निशामक दल का कोई वाहन नहीं था चार घंटे बाद वाहन आया तब जैसा भाषण हो गया लोग कितना पानी डालेंगे बाल्टिया कितना रेत फेंकेंगे तो कुछ अग्नि की ज्वाला इतने भयंकर सुदीप था उसे जो चिंगारियां निकल रही थी इतने दूर तक पहुंचा कि आज दूर दूर से पानी फेंकना पड़ा तो आज दुकान तक पहुंच भी नहीं रहा था पानी पहुंचते आप आगे बढ़ नहीं सकते जहां से खड़े फेंक रहे हो तो वहां जा ही नहीं रहा पूरा फूंक के भस्म हो गया दस लाख के कपड़े करीब तो ये दृष्टांत भी देखो समय प्रकार समय पर आ गया है यथा सुदीप्ता विस्फुलिंगा सहस सह स्वरूपाक्ष सहस्रश ही नहीं स्वरूप भी ये नहीं कि अग्नि के चिंगारियां ठंडे निकल गए अग्नि बड़े गर्म हो उसकी चिंगारियां ठंडी आगे पड़ गई है ऐसा नहीं हो सकता वो भी गर्म ही होंगे एक चिंगारी पड़ जाए तो जला देता है अरे उस तो दिए हुए अग्नि को छोड़ो जो बत्ती जलाते हैं लोग अगरबत्ती सिगरेट उसके भी नहीं होता है छठ उठे पड़ जाते तो छेद हो जाते हैं छोटी सी उस अग्नि की छोटी सी चिंगारी जो वस्त्र को जला की क्षमता स्वरूप है ये तो सुदीप्त अग्नि की बात दृष्टान दे रहे हैं सुदीप्ता पावका सहस्र स्वरूपा विस्फुलिंग प्रबोध था हजारों की संख्या में और स्वरूप विरूप नहीं उत्पन्न हुआ करते हैं ठीक उसी प्रकार अक्षरा विवेदा स्वम भाव प्रजायंद ठीक उसी प्रकार अक्षर तत्व से भी विभिन्न प्रकार के भाव विविधा भाव हे सौम्य प्रजायंत उत्पन्न होते हैं और लय का होंगे ये तत्र तत्र अप्यंत और अंत उसी में ही लीन हो जाना है बहुत सुंदर कहा जगत मिथ्या तो निश्चय कराए बिना उस अक्षर तत्व की अनुभूति आप कर नहीं सकते हैं इसलिए पहले जगत की मिथ्या को निश्चय करने के लिए बात कही गई है अपर विद्या सर्वम कार्य मुक्तम अपर विद्या का जो कुछ भी कार्य बताना है वो बता दिया गया है सज संसारो यो वह जो संसार को भी सार जिससे प्राप्त हुआ है ये सार जिसके माध्यम से सार को प्राप्त कर संसार बन गया है नहीं तो सार वाला कहां से बनता आधारभूत इस जगत में सम्यक सार आ गया और इसका नाम संसार पड़ा जिसके वजह से उस तो सारभूत तत्व का नाम अक्षर है स्वयं संसारो यत सारा मैंने यस्मात मूल यारा मैंने जिस मूल से निष्पन्न हुआ है कौन है वो अक्षरा जिस अक्षर से उत्पन्न हुआ है प्रणीय थे और जिसमें जाकर सब लय हो जाता है तद अक्षरम एक तद की व्याख्या कर तद एक तद यह जो संसार जिस सार को लेकर उज्जीवित हो रखा है या जिस मूल से जिस अक्षर से निष्पन्न होकर रहता है और जिसमें लय हुआ करता है तत्व जो अक्षर है पुरुषनामक तत्व है वह सत्यम यस्मिन विज्ञान सर्विद विज्ञातम भवती तत्परस्या विषय सवक्तवेदी उत्तरो ग्रंथ आरभ्य जिसके विज्ञात होने पर यह सब कुछ विज्ञात हो जाता है उस पर ब्रह्म विद्या का जो विषय भूता ब्रह्म तत्व क्षर तत्व है पुरुष तत्व सत्य तत्व है वह कहना चाहिए इसी यह द्वितीय मुंडक आरंभ हो रहा है यद अपर अवश्यम कर्म फल लक्षण सत्यम तद तो पूर्व में भी आपने कर्म फल को सत्य कहा था अमृतम कह दिया था कहते तो वो आपेक्षित समझिए क्योंकि जो अपर विद्या का विषय बता कर्म फल रूपा वस्तु होगा वह निश्चित रूप से वह भी सत्य है लेकिन आपेक्षिक सत्य तो उसके अंदर माननी चाहिए तद तो आपेक्षिकम फल विचार अपेक्षा सत्यवाद इत्यर्थ अपेक्षा मतलब यावत फल है तावत पर्यंत कर्म विचार नहीं होता फल अव्य विचार की अपेक्षा कृत सत्यत्व है वास्तविक स्थित नहीं है विषीयते विशेषत विद्या नहीं व्युत्पत्तिया विशेष शब्द से वस्तु पर नपुंसलिंग सत्यम तदा अपेक्षित पर विद्या विषय है ना क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये जो है पर विद्या विषय है क्यों से करें नमस्ते नहीं कारण यह है वित्त विशेष शब्द वस्तु तंत्र पर खुरा है वस्तु पर और वस्तु नपुंसलिंग इसलिए नपुंसक परमार्थ परमार्थता सत्य लक्षण था क्योंकि तो परमार्थता सत्य लक्षण वाला है अत्यंत अबाध्यवादी क्योंकि ये कैसा है अत्यंत अबाध्य है कहते हैं तदेत सत्यम यथाभूतम विद्या विषय वह यह जो तत्व है वही सत्य तत्व है यथाव तत्व है जो की विद्या का विषय है अविद्या विषय तच अनृतम इतरा और जो कुछ भी अन्य है वो सब कुछ क्या है अविद्या का विषय होने के कारण से वो अनृत अत्यंत परोक्ष कथम न प्रत्यक्ष सत्यम अक्षरम प्रतिबद्ध पूर्व पक्षी आशंका करने लगा महाराज ये तो अत्यंत परोक्ष है जिस ब्रह्म जिस अक्षर जिस पुरुष तत्व का नाम ले रहे हो वो तो हमको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता है ये जो घटपट मर संसार तो हमको बहुत बढ़िया से अनुभव में आ रहा है लेकिन आप जिस अक्षर तत्व की बात कह रहे हो वो तो अत्यंत परोक्ष है और उसको आप ये देते वही जो ये जो है सामने वही ब्रह्म है ऐसे कह दे रहे कैसे कहते हो आप पूर्व पक्षी यदि तत्व तो कर रहा है आप यदि तो सत्यम कैसे कह दिया क्योंकि ये तो अत्यंत परोक्ष होने के कारण से खत्म ना हो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के समान आपने कैसे उपदेश कर दिया सत्यम अक्षरम प्रतिबद्ध हम सत्य अक्षर तत्व प्रत्यक्ष के समान कैसे अनुभव कर सकेंगे दृष्टान्त महा तो दृष्टान से करते जो तुम होना वही तो वो है इसलिए ये जिस प्रकार से चिंगारिया का अनुभव करने वाला व्यक्ति अग्नि को अलग से हाथ डाल के जला के नहीं देखता देखता है क्या ये चिंगारियों से जल गया कहावत है इसीलिए कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है नहीं तो एक बार दूध गर्म पीते हुए तो जल गया मुंह तो थोड़ी नहीं जो भी सफेद है सब गर्म ही होता है और छाछ में फूक के पिए उसी प्रकार चिंगारी से जला हुआ आदमी कभी बेवकूफ नहीं होगा इतना कि की अग्नि में हाथ डल के देखे ये भी गर्म होता कि जलाता कि नहीं जलाता है ऐसा कोई नहीं करता वो तो चिंगारी से समझ लेते हैं कि अग्नि उसे खतरनाक है तो चिंगारी इतना जला सकता है तंग कर सकता है कष्ट दे सकता है ये इसका उस चिंगारी का भी जो मूल है ये कितना जला देगा क्या भरोसा कितना कष्ट देगा कोई अनुमान कर सकता है तो इसीलिए वो अपने आप उसे अलग हो जाता उसी प्रकार यहाँ पर भी ये समझ लो जब किंचित चेतनता को लेकर यह शव जब शिव हो गया है आध्यात्मिक चैतन्य को लेकर के प्रतिबिंबित चैतन्य को लेकर के यह शव भी जब शिव हो सकता है शक्ति से युक्त हो सकता है इसका मूल और चैतन्य मात्र जो स्वरूप है उसके में क्या अनुभव नहीं हो सकता है वो इसका मूल को पकड़ेंगे अनुभव तो सुदर्शित है इसलिए कहते कि देखो यथा सुदीपता सुष्टु दीपता इत्था का मन अग्नि जो सम्य प्रकार सिद्ध है प्रदीप्त है खूब धगधगाते हुए चल रहा है उससे पावका अग्नि विस्फुलिंगा अग्नि वयवा विस्फुलिंग में अग्नि के जो चिंगारिया है सरसो मैंने अरे कशा प्रबंधे निर्गछन्दी निकलते हैं निकलते हो सब कैसे होते हैं स्वरूप अग्नि से लक्षण अग्नि के सुदृश ही हुआ करते तथा उक्त लक्षणाक्षरा ठीक इसी प्रकार से उक्त लक्षण वाला जो अदृश्य इत्यादि से कहा हुआ लक्षण वाला जो अक्षर तत्व से विविधा नाना देहोपाधि भेदम अनुविधीयमान तत् विविधा नाना प्रकार से देह रूपी उपाधियों के अनुसरण करने के कारण से इनको कह दिया विविधा यदि तो विविध स्वरूप है स्वरूप होते हुए विरूप जैसे अनुभव में आता है उपाधि भेद को लेकर के आपको विरूप जैसे अनुभव में आता है वास्तव में वह स्वरूप ही है सभी में यह चैतन्य परिचिन्न चैतन्य जो अनुभव हो रहा है वह चैतन्य का स्वरूप में कोई अंतर नहीं अस्थिवादी प्रियम नाम रूपे पंचकम ये तो कहा ना इसलिए अस्थि तो बात प्रीति ये तीनों तो ब्रह्म का है नाम रूप चल और जो ब्रह्म का स्वरूप जगत में तारात्मक अगर जहां भी अनुभव में आ रहा हो उन सब में उसका स्वरूप वैसा का वैसा ही है अस्थि बात प्रिय रूपता में कोई अंतर नहीं है एक बार विचार कर रहे थे लोग बैठे हुए एक जगह कुछ ब्रह्मचारी लोग महात्मा लोग थे सब इकट्ठे थे एकदम दस बारह लोग बैठे हुए थे विचार हो रहा था अचानक एक महात्मा जो था बड़ा अच्छा विद्वान था और तो शरीर उनका गुजर गया उन्होंने एक एकदम काली सी बिल्कुल ब्लैक चारको और देखने में इतनी भद्दा दांत बाहर उस चेली का पीछे पड़ गए और उसे शादी कर लिया विचार होने लगा कि भाई बात क्या है, है? ऐसा कैसा हो गया उनको सुंदर कैसे लग गया कैसी मोह ममता हो गई कैसे राग हो गया समझ नहीं सकते लेकिन एक बात जरूर है हम बाह्य स्वर से जैसा भी रहा उसके अंदर के जो अस्थि भाति प्रियता है वो तो जैसे दूसरे में वैसे ही तो है ना उसमें तो कोई अंतर नहीं है चमड़े में अंतर है दांत में अंतर है रंग में अंतर भले हो जाएगा लेकिन उसके अंदर जो अस्थि भाति प्रियत है वो समान ही है सभी के अंदर बराबर है उसे कोई फर्क नहीं था शायद वो वहां तो वहां तक पहुंच गया होगा तो सबकी बात प्रेतात्म इसलिए उसको अपना नहीं कहने का तात्पर्य उपाधि के बाह्य स्वरूप उसके मूल स्वरूप का जो है आच्छादक बने हो सकता है लेकिन अन्यथा करण में समर्थ नहीं हो सकता इसलिए वो एक अक्षर तो, विविध रूप को धारण किया है वो विविधता कहां गई जब ये दृष्टांत अपने स्वरूप अभिरूप नहीं कहा हर दास्तान में विरूपता लाया ये क्यों तब जवाब उसी में दे रहे हैं कि नाना देह उपाय भेद का अनुविधान करने के कारण से विविधा इसलिए कह दिया विविध रूप को धारण किया लेकिन उस विविधता के अंदर में जो स्वरूपता है उसका तो कोई भी बात नहीं कर सकता है हे सौम्य भावा मैंने जीवा आकाशाद इव घटादि परिचिन्न जैसे आकाश से घटादि परिचिन है वही घटादि क्या करते हैं अपने सुशर के द्वारा आकाश को भी परिचिन करते उल्टा काम हो गया पहले तो आकाश घड़ा कहा है आकाश में है है ये नहीं एक देशा चिन्ह आकाश अस्त घट अब बोलोगे फिर वो घट में भी आकाश उसको घटाव चिन्ह आकाश बोल दिया विलक्षण में है ना इसमें इसलिए दृष्टान दे लिया गया है आकाश का बीच में घट और घट का सुशील को लेकर के फिर आप घटावचन आकाश करके आकाश को ही परिच्छिन्न करते हो जिस पर आकाश से घट परिच्छिन्न हुआ था वह घट क्या आकाश को परिच्छिन्न कर सकता है लेकिन व्यवहार ऐसा ही होता है उसी प्रकार से जिस आत्मा में शरीर आदि की कल्पना हुई है इसी शरीर के अंदर चैतन्य को भी अपरिचिन्न रूप में ग्रहण करते बिल्कुल दृष्टान सदृश है इसे तो आकाशात इव घटारी परिच्छिन्न सुशिर भेदा घटादिपादि प्रदेश अनुभवंती फिर भी क्या होता है सुशिर का भेद को लेकर घटारी उपाधि प्रभेद को वो आकाश अनुभव करने लगता है और आपके तो घटाव चिन्ह आकाश है पढ़ाव चिन्ह आकाश है भटाव चिन्ह आकाश है उसी और यहाँ पर भी देवता चिन्ह चैतन्य है यज्ञ चैतन्य है इत्यादि बोलते हो और हृदय के हृदय में हृदय रूपी सुशिर में पंच सुशिरों हृदय पंच सुशिर वाला हृदय स्थान है पंच देवता का उपासना पर किया जाता है ताकि हृदय के अंदर हमें निर्विघ्नता पर प्रवेश कर सके उपासना आएगी तब देख लेना उसके बिना हृदय के अंदर एंट्री नहीं मिलता है आप समझते हैं ध्यान करेंगे हृदय में चले गए हृदय में नहीं है मन का खेल है मन पता नहीं कहा ले गया और आपको कह दिया वो मैं हृदय में चला गया हृदय में गया नहीं हृदय में ध्यान ही नहीं हुआ क्यों पांच दरवाजे और पांचों दरवाजे सदा बंद रहते उनके द्वारपाल पंच देवदा लोग चंद्र अग्नि विष्णु आदि आएगा उनको प्रसन्न किए बिना वो द्वार खुलेगा नहीं तो हृदय में कैसे ही प्रवेश करोगे तो मांस पिंड रहने के पार के आप अंदर जा रहे ऑपरेशन करके भोज हृदय गुफा जिसमें कहा जाता ब्रह्मानुभूति करने के लिए उस हृदय गुफा में प्रवेश करना कोई आसान बात नहीं है जैसे चक्रव्यूह का भेदन करना वैसे यहाँ पर भी पंच व्यूह है इसका भेदन करना पड़ता है तब जाकर के ही वो व्यक्ति अंदर पहुंच सकता उसके बिना नहीं हो सकता है उपासना प्रकरण बाद में आएगा जो विचार करेंगे विस्तृत रूप से इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से हृदय आकाश में आप चैतन्य को मान लिया यदि भी वह चैतन्य जिससे अवचिन करके आप अनुभव कर रहे हो वो उपाधि खुद उस चैतन्य में परिकल्पित है आकाशत घट के समान आत्मस्थ यह शरीर है उस शरीर के अंदर हृदय गुफा उस गुफा में भी छिद्र के अंतर्गत आप चैतन्य कहते हो इसलिए कहते हैं सुशील भेदा घटाधि उपाधि प्रभेदम अनुभवंती एवं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाना नाम रूप कृत देहोपाधि प्रभवम दे नाना जो नाम रूपात्मक उपाधियों से कृत जो देहादि उपाधियां हैं इनकी उत्पत्ति के साथ साथ कहा दिया जाता है वह जीवात्मा उत्पन्न हो गया फिर अंत में जो उपाधियां लय हो जाएंगे तो क्या होगा तत्र तस्मिन अक्षरे यंती देहोपाधि विलय मनुलीयंते उसी अक्षर तत्व को यलवंत में प्राप्त कर जाते हैं कब देहोपाधि विलयम अनुलिवियंत है जैसे देवारी उपाधि नाम रूपाधि उपाधियों का लय होता है तो वैसे ही वह चैतन्य भी जो जीव रूपे आपने परिचिन रूपे ग्रहण किया था घटाकाश घट रूप उपाधि का नष्ट होने पर वो आकाश कहा गया महाकाश में जिस प्रकार से लीन हो जाता है उसी प्रकार से देवदत्ता चिन्ह चैतन्य ग्रहण जिसको आपने ग्रहण किया था वह देवता जो नाम रूपातक उपाय जब क्षीण हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे विद्या के विद्या का नाश होने पर जैसे ले होते हैं साथ साथ तब आप स्वरूप था चैतन्य जिसमें उपाय कल्पित थी उसी में व्यक्ति लय हो जाता है घटारी वलयम अनु इव सुशिर भेदा इसलिए कहते जैसे सुशिर भेद घटारी का विलय होने से विलय हुआ तो घटावचन आकाश में विलय हो जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी हृदय भी गुफा का विलय हो जाएगा जब हृदय ही नहीं रहेगा तो हृदय भी गुफा का आगे होगा ये सब लय हो जाएंगे तो अपने आप जीव भाव जो तो भी लय हो जाएगा यथा आकाश सुर भेद उत्पत्ति प्रलय निमित्त तब जैसे आकाश के अंदर जो परिचिनता आई थी वह क्या था सुशर भेद की उत्पत्ति और उसको प्रलय निमित्त हुआ घटाकाश की निवृत्ति भी है घटा जो उपाधिकृतम वास्तव में आकाश में न उत्पत्ति था न लय था वो घटा जो उपाधिकृत ही था तद्वत अक्षर ठीक उसी प्रकार से इस अक्षर तत्व के अंदर वास्तव में कोई उत्पत्ति नहीं कोई लय नाम का चीज नहीं क्योंकि नाम रूप देहोपाधि निमित्त एवं जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्त नाम रूपात्मक कृत से जन्य जो देहादि है ये देहा उपाधि निमित्त ही जीवों को उत्पत्ति प्रलय की बात है वास्तव साक्षर में कुछ नहीं है इस प्रकार से बुता ब्रह्म विद्या का खुला खुला स्वरूप स्पष्ट कर दिया ठीक है वह एक में अद्वितीय तत्व को सिद्ध करने के लिए बात कर दिया गया था कि जीवन की उत्पत्ति और पड़े भी वास्तविक नहीं है वास्तव में एक में अद्वितीय अक्षर तत्व ही है एकत्व तो सिद्ध कर दिया लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव तो भेद निष्ठा ही होता है तो निमित्त नैमित्तिक भाव को भी तो दूर करना है उसी के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है दिव्य मूर्ता पुरुष सबायाभ्यंतरो ह्यज वरा शुभ्रो ह्यक्षरात् परत पर वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण से किसी निमित्त निमित्त भाव की अपेक्षा नहीं करता है यावत पर्यंत अज्ञान अनुभूति किसी को होता है किसी उपाधि में उसी उपाधि की दृष्टि से उस उपाधि की उत्पत्ति और लय को लेकर के निमित्त निमित्त भाव की परिकल्पना की जाती है वास्तव में निमित्त निमित्त भाव भी नहीं है दिव्य क्यों निश्चय व दिव्य है अमूर्ता आकार रहित है पुरुष आकार दीपिका जो आकाश भी हो सकता है अमूर्ता वायु का भी कुछ मूर्त स्वरूप अनुभव में आ जाता है जब बहता होता है इसलिए आकाश को ले लो आकाश भी दिव्य है दिव्य भाव दिव्य आकाश में जिसमें मात्र नाम है वायु का दिवलोक में भ्रमण करने वाला है मातृश्वेत गच्छती थी मातृश्वा वायु तो दिव्यम इसलिए अमूर्त कह दो तो वायु में अतिव्याप्त निवृत्त हो जाए लेकिन अमृत तो आकाश में आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगा कद पुरुष अब कहीं अतिव्याप्ति नहीं है इसलिए वह सब बाह्याभ्यंतर अच इसलिए वह जो पुरुष है बाह्या सब बाह्याभ्यंतर अच वह बाहर भीतर सर्वत्र वर्तमान होने के कारण से अच है अजन्मा है अगर सब बाह्याभ्यंतर अलग कर दो कार्यकाल भाव में लगे और बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान व्यापक है व्यापक होने के नाते वह आकाश आदि के समान कार्य भी नहीं वायु आदि के समान दिव्य मूर्त भी नहीं है इसकी दिव्यता इसकी अमूर्तता जो है वास्तव में जरा व्यापकता का प्रद्योतक पात्र में जिसलिए वो सर्वत्र व्यापक है इसलिए वो अज है अज होने के नाते है न प्राण है न मन है क्रिया शक्ति प्रदान प्राण नहीं ज्ञान शक्ति प्रदान मन भी नहीं क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति विशिष्ट होकर के उपाधियों का अनुभव में आता है तार तो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति का निषेध करने के कारण से वह है कैसा फिर शुक्र वह परिशुद्ध एवं अक्षरा पर माया कार्य की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है अक्षर से भी उत्कृष्ट है यह अक्षर शब्द का अव्याकृत है अव्याकृत प्रकृति उससे भी पर वो भी अक्षर है ना अव्याकृत प्रकृति माया अविद्या जिसका भी नाम लो वो भी क्या है अक्षर है यावत मुक्ति पर्यंत स्थित होने के नाते उसको भी हम अक्षर ही कहते हैं और उस तरह से भी उसका भी वास्तविक कोई परिणाम नहीं होता विषम सत्ता परिणाम है समसत्ताक परिणाम नहीं मानी जा सकती है इसलिए उन सांख्या भी क्या है प्रकृति वैसे वैसे तो खाली हो जाएगी ना परिणाम होते तो खत्म हो जाएगा एकदम प्रकृति पहले तो उसको वैसे कैसे रहते हुए ही महातत्व बन गया और मात का भी वैसे तो वैसे रहते हुए अहंकार हो गया मैंने पूर्व पूर्व कारण स्वरूप के नाश के बिना ही कार्य उत्पत्ति मानते अतएव मूल प्रकृति जो है वो अक्षर हुआ कि नहीं हुआ उसका स्वरूप में कोई परिणाम नहीं कोई विकार नहीं इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया जाता है जो अव्याकृत करती है उससे यह पुरुष क्या है पर उत्कृष्ट है परत अक्षरादपि पर भाष्य नाम रूप बीज भूता दव्याख्या स्व विकारापेक्ष पराधि अक्षरात परम सर्वोपाधि भेद वर्जितम अक्षर से स्वरूपम आकाश सर्वमूर्ति वर्जितम नेति नेति इत्यादि विशेषणम विवक्षण आहा अगले मंत्र के अवतरणिका दे रहे हैं नाम रूप का बीज भूता जो अव्याकृत है क्योंकि नाम का नामकृत उपाधि आपने कब बारम्बार नाम रूप कृत उपाधि भेद को लेकर के प्रभवंते की व्याख्या आपने कर दिया ये नाम रूप कहा से आए वो जिससे आए उसका नाम अक्षर है माया है अविद्या है प्रकृति है प्रधान है अनेकों नामों से पुकार जाता है मूल कारण बताओ जो वस्तु वही करे नाम रूप का भी जो बीजभूत है कौन वो भी अक्षर नाम से कहा जाएगा उसको अव्याकृताख्या स्व विकारापेक्ष परा कि अपने विकारों की अपेक्षा से वही पर कहा जाएगा विकार क्या है महत अहंकार है ना तन मात्राएं वगैरह जो हुई इन सदन विकारों की अपेक्षा से प्रकृति क्या है पर इसलिए अक्षरात परात एक कहना परता परत पंचमी में परात परात अक्षरात अक्षर में परत क्यों आया उस प्रकृति में क्योंकि अन्य विकारों की अपेक्षा से वो पर है इसे कहते हैं परात अक्षरा तादृश अव्याकृताख्यात स्विकार अपेक्षा पर अपने विकारों की अपेक्षा से पर कहा जाएगा उस अव्याकृत नाम को जो मूल प्रकृति है उसी को इस मंत्र में अक्षर शब्द से भी कह दिया उससे भी वो परम ये जिससे भी जो परे है कौन सर्वोपाधि भेद वर्जितम जो सगल उपाधियों का भेद से रहित है ताश अक्षर से स्वरूपम अब ये अक्षर शब्द ब्रह्म तत्व मिला उस अक्षर का ही स्वरूप है आकाश शिव सर्वमूर्ति वर्जितम जैसे आकाश में सर्वमूर्त पदार्थ रहित उपाधियों से रहित अनुभव करते हो उसी प्रकार से ब्रह्मरूपी जो अक्षर है ना ये और उपाधि अक्षर से भी परे उस उपाधि से भी रहित है उस मूर्त से भी रहित है वर्जित जो नीति नीति इत्यादि विशेषणों से विशेषता उस ब्रह्म तत्व को विवक्षण कथन करने की इच्छा से आह दिव्यो इत्यादि ज्योतिवान स्वयं ज्योतिष्ठा दिव्य से विकार तो लेकर आए हैं वाषिका प्रकाशवान है उनके स्वयं ज्योति होने से दिवीवा स्वात्मनि भव अलौकिको वीवा भव जो दिवलोक में होता है उसका भी नाम अथवा आत्मनि भवो आत्मनि भवो स्वात्म स्वात्मनि अलौकिक होगा इसलिए अर्थ करते अलौकिक है किसी भी इंद्रियों का किसी भी प्रकार का किसी का भी विषय नहीं बन पाता है इसलिए वो अलौकिक है योगियों का भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता आत्मा योगी लोग भी अन्य लोगों को यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर लेंगे है ना उनके पास योग जो सिद्धियां है युन जॉन ये कहा उसमें तवड़िकार ने युक्त योगी और युजार योगी दो प्रकार का वर्णन किया तो इसलिए वे भी इस आत्मा को पुनः दिव्य इंद्रियों के द्वारा दिव्य चक्षरादियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते जैसी आत्मा आत्मा को तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार से किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता अतएव इसको अलौकिक कहा जाता है अलौकिक होगा ही अस्मार जिसलिए कि अमूर्त सर्वमूर्ति वर्जित पुरुष पूर्ण पुरुष क्योंकि वह सर्वमूर्ति से मूर्त भाव से वर्जित सर्वमूर्ति वर्जित सर्वाकार रहित निराकार मतलब सर्व प्रकार के आकारों से रहित है वह निराकार है पुरुष मैंने पूर्णत्वा पुरुष पूर्ण होने से उसका नाम पुरुष है अथवा पुरुष होगा स्वरूपत्व ना पूर्ण है और आध्यात्मिक दृष्टिया पूरी शयन कर रहा है इसीलिए दोनों ही बात कहा जाता है पुरुष के लिए पूर्ण और पुरुष दिव्य हे मूर्त पुरुष हो बाह्याभ्यंतर हो सह बाह्याभ्यंतरेण वर्त दीदी बाह्याभ्यंतर बाह्य और आभ्यंतर उभय रूप से रहने वाला है भीतर बाहर सब जगह रहता है अर्थात तो व्यापक है जिसलिए वो व्यापक है इसलिए वो अजह न जाए थे कुतश्चित स्वतो अन्य से जन्म निमित्त अभाव क्योंकि किसी से ही वह उत्पन्न नहीं होता और स्वतः भी उत्पन्न नहीं हो सकता कुतश्चित अपनी न जाए थे भी न जाए कथा जन्म निमित्त से अभाव जन्म का निमित्त ही नहीं रह गया इसलिए कहते हैं कि सृष्टिया दो प्रकार के है ना आपने देखा भागवत में चल भी रहा है इस समय एक यौन सृष्टि है और एक मानस सृष्टि जो मानस सृष्टि स्वतः हुआ ईश्वर के सब पहले ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए सकल जीवों का कर्म उपभोगार्थ वो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं वो ही उत्पन्न होगी इसलिए स्वयं भू उसको कहा भी स्वयं भू परमात्मा है स्वयं भवदी थी स्वयं भू ये स्वभू भी बोलते हैं आत्मा एवं प्रथम अभिव्यक्तित्व भवदी थी स्वभू है नहीं तो वो सब क्या हो गया स्वतः उत्पन्न होने वाले भी हैं और कुछ तो अन्य निमित्त से उत्पन्न होते हैं तो लेकिन दोनों ही प्रकार की उत्पत्ति इस आत्मा में नहीं हो सकता क्योंकि निमित्त ही नहीं रह गया अन्य से उत्पत्ति नहीं स्वतः भी उत्पत्ति नहीं स्वतः उत्पत्ति के लिए अन्य निमित्त कौन हुआ कर्म ब्रह्मा सूत्र कैसे उत्पन्न हो गए कर्म के कारण से कर्म भोगार्थ हो और अन्य लोगों की उत्पत्ति कैसे हो रही योनि आदि हो सकता चार प्रकार का ना अंडज जराज इत्यादि वर्णन किया हुआ है इसलिए कहते कि देखो तो स्वतो कुत अन्य न जायते कुतश्चित भी न जायते स्वतवा न जायते क्यों अन्य जन्म निमित्त से अन्य कोई जन्म का जो निमित्त हुआ करता है सामान्य रूपेण उनमें से कोई भी निमित्त यहाँ नहीं है तथा जल बुध बुधादेश वायवादी जैसे जल में बुध बुध हो गया क्यों हो गया वायु निमित्त था वायु रूपी निमित्त ना हो तो जल बुध भेद कहाँ से आएंगे उसका जो प्रवाह कारण है उसमें आदि कहे ना इसलिए वायु भी कारण है ये प्रवाही ना हो तो वायु क्या कर लेगा उसमें प्रवाह भी है अभी जो वायु भी घुस गया तब जाके उसमें बुद्ध बुद्ध प्रकट हो जाता है ये इसलिए कहते हैं जल बुद्ध आदियों के प्रति जिस प्रकार वायु आदियों को निमित्त मान लेते हैं उसी उस प्रकार या इस आत्मा की उत्पत्ति के प्रति कोई भी निमित्त नहीं है यथा नव सुशर भेदाराम घड़ा सर्वभाव विकाराम जिन्हें मूलत्वाद तत्प्रतिशत सर्वे प्रतिषिधा भवंती नवस्व शरभेदाराम घटारी सर्वभाव विकाराम घटाकाश जो भेद हो रहा है आकाश का आकाश का भेद सुशिर का भेद छिद्रों का भेद है कारण वहां जब आपने घटारी सर्व भाव विकारों को निषेध कर दिया परिच्छेद ही नहीं रह गया जैसे घटादी जो उपाधिया है वो क्या करते हैं आकाश को परिच्छेद कर देते हैं छोटा छिद्र वाला बड़ा छिद्र वाला विभिन्न प्रकार के छिद्र वाला होकर के एक घटादी क्या है आकाश को परिच्छेद कर डालते हैं जब घटादी भाव विकारों को हमने निषेध कर दिया उस आत्मा में तो इसलिए उस आत्मा को ये घटारी विकार भी परिच्छेद नहीं कर सकते ये घटादी होते कहा है आकाश में और परिच्छेद किसको कर रहे हैं आकाश को ही वैसे कोई आत्मा में उपाधि होता तो वह उपाधि आत्मा को परिच्छेद कर सकता था ऐसा भी नहीं है आत्मा में सभी आप कहते हैं लेकिन वास्तव में नहीं है समझाएंगे है अंतरण उपाधि है क्या यदि अंतगण नामक कोई उपाधि वास्तव में होता तो आत्मा को भी परीक्षण कर देता और काल्पनिक कोई भी वस्तु परिच्छेद नहीं कर सकता चित्र पट को परिच्छन नहीं कर सकता है चित्र दृष्टिया चित्रपट को बड़े परिच्छेद करता है रहे पट दृष्टिया चित्रपट को परिच्छेद नहीं कर सकता क्योंकि वह चित्रपट पर आरोपित मात्र ही है वास्तविक है ही नहीं लेकिन चित्र दृष्टि से विचार करोगे आप चित्र तो कहेगा मैं हूं इसलिए मैं इस पट को परिच्छेद करता हूं इसलिए वहां अंतकरण ही आत्मा को परिच्छेद करने की भ्रांति हो सकता है जिस अंतरण में अज्ञान के अपने आप को एक व्यक्ति वस्तु मान लेता है वो तो व्यक्ति का अपने आध्यात्मिक अंतकरण की स्वदृष्टि से है आत्मा के दृष्टिकोण से नहीं आत्म दृष्टिया उपाधि ही नहीं है तो उपहित कैसे होगा वो ये दोनों दृष्टियों का विचार आएगा गीता जी बहुत सुंदर ढंग से संक्षेप या प्रसंग यहाँ भी बोल देता हूँ क्योंकि आप देख लीजिए दर्पण है उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब पड़ा आप क्या कहेंगे दर्पण में प्रतिबिंब है बोलोगे ना लेकिन दर्पण को यदि वाणी दिया जाए और दर्पण बोले तो वो क्या बोलेगा दर्पण तो यही कहेगा कि मेरे अंदर कोई प्रतिबिंब नहीं तेरी भ्रांति है कि तेरे को मेरे में दिखाई दे रहा है मेरे अंदर कोई नहीं यदि मेरे अंदर वास्तव में कोई एक प्रतिबिंब टिक जाए फिर दूसरे प्रतिबिंब पड़ेगा ही नहीं मेरे दर्पण भी खत्म हो जाएगा मामला फिर मेरा संज्ञा दर्पण ही रह जाएगा चौपट हो जाएगा मामला अतः मैं मैं जो दर्पण हूं मुझ में वास्तव में कोई प्रतिबिंब ही नहीं जिस समय हमको दिखाई दे रहा है उस समय भी दर्पण यही कहेगा मेरे अंदर प्रतिबिंब नहीं है आपकी भ्रांति है लेकिन आपके अपना दृष्टिकोण से आप कहेंगे नहीं मेरा प्रतिबिंब वहां है तो चित्र का दृष्टि से बिंब का दृष्टि से वह प्रतिबिंब विद्यमान है चित्र पट में विद्यमान है लेकिन वास्तव में पट में चित्र है ही नहीं न दर्पण में कोई प्रतिबिंब है वही सिद्धांत यहाँ बोल रहे हैं उसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि कोई निमित्त ही नहीं है तो नैमित्तिक उपहितता भी कहा से आएगी वो भी नहीं हो सकता समझाते देखिए यथा नवस्वर वेदाराम घटाद सर्वभाविकाराम जिनी मूलत्वाद सब जन्म जन का मूल मैंने जन्म रूपी कारण वाले हैं ये तक प्रतिषेधे न जब उन्हीं का प्रतिषेध कर दिया सर्वे प्रतिषिधा भवंती सभी के सही प्रतिषिध हो गया सर्वात्मक क्यों सर्वात्मक ही है ना क्योंकि वो सर्वात्मक है इसलिए नीचे टीकाकार बहुत